जय राम राम कुच बस दे सो सुनि तमके उके भूषण जनयाणि आगे धरे बो हे मृदुबाणि प्राण प्रिय तुम रघुबेरा शीलने हन सुकित सुजसु पर लोको न साओ तुम ही न जान बन कहे किराओ सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती इन बातों को सुनकर कई कई तमक कर उठी उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कमंडलों आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा हे रघुवीर राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो भेरु प्रेमवश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन जाने को वे कभी न कहेंगे अस विचारि भावा राम जनने सिख सुनि सुख पावा। बाण वचन करहि न प्राण पयानय भा कल मुर छित नर काह करे कछु सुझन का राम तुरत मुनि बेसुबनाए चले जनक जन जिह सिरुनाई ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया परंतु राजा को ये वचन वाण के समान लगे वे सोचने लगे अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते राजा मूर्छित हो गए लोग व्याकुल हैं किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए सजीवन साजो समाजो सब बनिता बंधु समेत बंद बे प्रगुर चरण प्रभु चले करी सब ही वन का सब सार सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़ देखे लोग विरह दवदाढे कही प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्रवृंदर घो वीर बोलाए गुरसन कही बर शासन देहे आदरदान दाणय बसके धे दान मन संतोषे मित पुनीत प्रेम परितोषे ताजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया गुरुजी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया दासी दास बुलाए बहोरे गुरही सो पे बो लेकर जोरी सब कैसार संभार गोसाए कर जनक जन निकी नाय बारही बार जोर जोग पानी कहत राम सब सन मृदुबान भाति हित कारे जहित रहय सुखारी फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरुजी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले हे गुसाई इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे मातु सकल मोरे बिरह जैसी न हो ये दुख दीन सोयो पाव तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण हे परम चतुर प्रवासी सज्जनों आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो